Osho Talk. Kathopanishad, number 5. अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् तद्वद सर्वे वेदा पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति तत्ते पदम् सङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदि छत्ति तस्य तत् एतदालम्बनम् श्रेष्ठम् एतदालम्बनम् परम् एतदालम्बनम् ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम् कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोः निहितो गुहायाम् तमक्रतु पश्यति वीतशोको प्रसादान महिमानमात्मनः यमराज के इन वचनों को सुनकर नचिकेता बोला जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत अधर्म से भी अतीत तथा कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत से भी भिन्न और भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों से तथा इनसे संबंधित पदार्थों से भी पृथक आप जानते हैं उसे बतलाइए यम ने कहा संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य कराते हैं अर्थात वे जिसके साधन हैं जिसको चाहने वाले साधकगण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह पद तुम्हें मैं संक्षिप्त में बतलाता हूँ वो है ओम ऐसा यह एक अक्षर यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है यही अत्युत्तम आलंबन है यही सबका अंतिम आश्रय है इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमा को उपलब्ध होता है नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है यह न तो स्वयं किसी से हुआ है न इससे भी कोई हुआ है अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण है यही अजन्मा नित्य सदा एकरस रहने वाला और पुरातन है अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता है यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने आप को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जा सकती है इस जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी महान है परमात्मा की इस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई बिरला साधक सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है भारतीय अध्यात्म साधना की एक मौलिक खोज को समझ लेना जरूरी है तभी हम इस सूत्र में प्रवेश कर सकेंगे आधुनिक विज्ञान ने पदार्थ के विश्लेषण से ऐसी निष्पत्ति निकाली कि यदि हम पदार्थ को विश्लिष्ट करते जाएं, खंडित करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो अंत में जो तत्व शेष रह जाता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता जो आखिरी इकाई बचती है वो इकाई विद्युत की है इलेक्ट्रॉन इसलिए विज्ञान के अनुसार जगत में जो भी दिखाई पड़ रहा है वो विद्युत का ही समागम है विभिन्न विभिन्न रूपों में विद्युत ही सघन होकर पदार्थ हो गई है विद्युत मौलिक तत्व है पूरब के मनुष्यों ने भी एक मौलिक तत्व खोजा था पर उनकी खोज दूसरी तरह से थी और दूसरी दिशा से थी पश्चिम के विज्ञान ने पदार्थ को तोड़ तोड़कर आखिरी अणु परमाणु और परमाणु का भी विभाजन करके जिस तत्व को पाया है वह है विद्युत पूरब के मनुष्यों ने भी चेतना की अत्यंत गहराई में उतर उतर कर चेतना का जो आखिरी बिंदु है उसे पकड़ा था उस बिंदु को उन्होंने कहा था ध्वनि साउंड पूरब की खोज है कि सारा अस्तित्व ध्वनि का ही घनीभूत रूप है शब्द का घनीभूत रूप है इसलिए वेद को हमने परमेश्वर कहा क्योंकि वो शब्द है और ऐसा पूरब के मनीषी की ही खोज नहीं जिन्होंने भी आत्मा की तरफ से यात्रा की है उन्होंने भी यही कहा है बाइबल कहती है जगत के प्राथमिक चरण में शब्द था लोगोस आ द वर्ल्ड शब्द था जगत के प्रारंभ में फिर शब्द से ही शब्द उत्पत्ति हुई जिन्होंने आत्मा के भीतर प्रवेश करके जीवन की आधारशिला खोजनी चाहिए उन सभी ने ध्वनि को आधारभूत माना है जिन्होंने पदार्थ की खोज की है उन्होंने विद्युत को आधारभूत माना है पर एक बड़े मजे की बात यह है कि पश्चिम का विज्ञान कहता है कि ध्वनि विद्युत का एक रूप है और पूरब का योग कहता है कि विद्युत ध्वनि का एक रूप है इस मामले में विज्ञान और योग दोनों सहमत थे कि विद्युत और ध्वनि दो चीजें नहीं है यह परिभाषा की बात है कि हम विद्युत को ध्वनि का रूप कहें कि ध्वनि को विद्युत का रूप कहें लेकिन एक बात दोनों राजी हैं कि जीवन की चरम आखिरी आत्यंतिक जो इकाई है वो या तो विद्युत जैसी है या ध्वनि जैसी है और विद्युत और ध्वनि में कोई भेद नहीं है पर दोनों ने अलग अलग तरह से यात्रा की है और अलग अलग रूप से आत्यंतिक को पकड़ा है यदि पदार्थ से खोज की जाए तो विद्युत ही मिलती है पदार्थ जड़ है विद्युत भी जड़ है लेकिन अगर चैतन्य से खोज की जाए तो चैतन्य का आधारभूत स्वरूप ध्वनि शब्द है विचार है चैतन्य मन है मनन है तो कितने ही गहरे हम उतरते चले जाएं तो ध्वनि के शुद्धतम रूप शेष रह जाते ध्वनि का ये अंतिम जो रूप है उसे हमने नाम दिया है ओंकार ओम ये ओम कुछ हिंदुओं से बंधा हुआ नहीं जैन हिंदुओं से राजी नहीं है तत्व दर्शन में लेकिन इस बात में राजी हैं कि जो आत्यंतिक घटना भीतर घटती है उसकी ध्वनि ओंकार की बौद्ध राजी नहीं है सब सिद्धांतों में भेद है लेकिन जब समाधि फलती है और समाधि पूर्ण होती है तो जो ध्वनि भीतर स्फुरुत होती है वो ओंकार की है वो ओम मुसलमान अपनी प्रार्थना के बाद अमीन शब्द का प्रयोग करते हैं ईसाई भी यहूदी भी शब्द शास्त्री कहते हैं अमीन ओम का ही रूप है वो जो भीतर ध्वनि होती है उसे कोई ओम की तरह भी समझ सकता है कोई अमीन की तरह भी समझ सकता है ध्वनि में अपनी तरफ से समझ लेने की बहुत आसानी है रेलगाड़ी चलती हो और उसके चकों की आवाज होती हो तो आप जो भी चाहें सुनना वो सुन सकते आप चाहें तो किसी गीत की कड़ी भी सुन सकते अगर कोई फिल्मों का भक्त हो तो उसे कोई गीत की कड़ी सुनाई पड़ जाएगी और अगर कोई राम का भक्त हो तो उसे लगेगा कि रेलगाड़ी के चके राम राम राम कर रहे ध्वनि बहुत सूक्ष्म है पूरब के मनुष्यों ने उसे ओम की तरह पकड़ा यहूदी मुसलमान फकीरों ने उसे ओमीन की तरह पकड़ा जिसका अमीन रूप हो गया अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जिसको अंग्रेजी भाषा शास्त्री समझा नहीं पाते कि उनकी उत्पत्ति क्या है जैसे ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोचेंट शब्द शास्त्री नहीं समझा पाते कि इनकी उत्पत्ति क्या है लेकिन जो लोग ओम के विज्ञान को समझते हैं वो कहेंगे कि इन शब्दों का जन्म ओम से हुआ है ओमनी पोटेंट का अर्थ है कि ओम की तरह जो शक्तिशाली हो गया है विराट ओमनी प्रेजेंट का अर्थ है कि ओम की भांति जो सब जगह उपस्थित हो गया सर्वकाल में संस्कृत से संसार की करीब करीब सभी सुसंस्कृत भाषाओं का जन्म हुआ है संस्कृत आदि भाषा है अंग्रेजी हो कि लिथुआनियन हो कि फ्रेंच हो कि इस्लाब रशियन हो कि जर्मन हो कि इटालियन हो स्पेनिश हो स्विस हो डेनिस हो सारी भाषाओं संस्कृत के मूल धातुएं उपस्थित ओम संस्कृत की आधारभूत ध्वनि इस ओम में संस्कृत की जितनी ध्वनियां हैं सभी का समावेश ओम बना है आ ऊ और मां तीन ध्वनियों के जोड़ से ए यू एम ये तीन मूल स्वर हैं बाकी सारी भाषा इन्हीं से पैदा होती सारे शब्द फिर इनसे ही निर्मित होते ओम मूल है आ ऊ मां उसकी तीन शाखाएं हैं और फिर इन तीन शाखाओं से सारी ध्वनि का जाल और सारे शब्दों का जन्म होता ओम को हम लोगोस कहेंगे यहूदियों की भाषा में शब्द कहेंगे ईसाइयों की भाषा में इस ओम के संबंध में यह सूत्र है और इस सूत्र को बहुत ठीक से समझ लेना क्योंकि भीतर जिन्हें प्रवेश करना है वे इस ध्वनि के सहारे बड़े आसानी से भीतर प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि यह ध्वनि भीतर निनादित हो रही है प्रति क्षण ये ध्वनि भीतर गूंज रही है ये ध्वनि ही आपका प्राण है ये ध्वनि भीतर से खो जाए आप खो जाएंगे आपका अस्तित्व इसी ध्वनि की स्पूर्णा है लेकिन हम इतने शब्दों और इतनी ध्वनियों से भरे हैं इतने शोरगुल से ये भीतर की धुन सुनाई नहीं पड़ती ये बड़ी सूक्ष्म और ये बड़ी गहरे में और हम बाजार में इतने उलझे हैं वहां इतना उपद्रव है इतना शोरगुल है और हमारे कान उससे इस बुरी तरह भरे हैं कि इस छोटी सी धीमी सी मौलिक गहरी आवाज को हम सुन नहीं पाते इसे सुनने के लिए जरूरी है कि हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाए इसके लिए जरूरी है कि हमारे बाहर का जो शोरगुल है वो छूट जाए हमारा मन अव्यस्त हो जाए अनऑक्युपाइड हो जाए बाहर से हम कुछ भी न सुने और भीतर कोई विचार न चले तो धीरे धीरे धीरे इस ध्वनि का अनुभव होना शुरू हो जाता इसमें एक खतरा है और वो खतरा बड़े गहरे खड्डे में भारत को ले गया जैसे ही ये पता चल गया अज्ञानियों को कि ओम मूल मंत्र है तो उन्होंने ओम का पाठ शुरू कर दिया तो वे बैठ के ओम ओम ओम का पाठ करने लगे ये जो आप पाठ करते हैं ये मूल नहीं है जो बिना पाठ किए भीतर गूंज रहा है वो मूल है जो आप बोलते हैं ओठों से या मन से वो तो आपका ही है वो तो ऊपर ऊपर है वो जो भीतर से आता है बिना किसी प्रयास के जो आपको तोड़ के आता है परत परत उघाड़ के आता है जो आपके ऊपर छा जाता है जो आपका कृत्य नहीं है जो आपके भीतर घटी घटना एक हैपनिंग है उस ओम से जिसका संबंध जुड़ जाता है वो जीवन के परम आधार से एक हो गए उसने ब्रह्म के साथ मैत्री बना ली वो मोक्ष को उपलब्ध हो गया लेकिन जैसे ही ये पता चल गया तो हमने इस पता का ये उपयोग किया कि हम बैठ के ओम ओम का पाठ करने लगे अगर आप इसका पाठ करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन ओम की ध्वनि से भर जाएगा लेकिन वो ध्वनि पैदा की हुई है वो आपके ही द्वारा पैदा की हुई है और जो आप पैदा करते हैं वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता इसे बहुत ठीक से समझ लें जो भी आप पैदा करते हैं वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता आपसे बड़ा आप कैसे पैदा कर सकते हैं और जो भी आप पैदा करते हैं वह हाथ के मैल की तरह है जिसने आपको पैदा किया जिससे आप पैदा हुए उसे आप पैदा नहीं कर सकते कोई भी अपने बाप को जन्म नहीं दे सकता इसका कोई उपाय नहीं लेकिन जो लोग ओम का पाठ करके सोचते हैं कि मूल ध्वनि में उतर जाएंगे वो अपने बाप को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं यह असंभव है इसके होने का कोई उपाय ही नहीं है खतरा यह है कि वो ओम जबते जबते कहीं इतना कंठस्थ हो जाए और इतना यांत्रिक हो जाए तो वो ये भूल ही जाएंगे कि ये असली नहीं है नकली हमने हर चीज में नकल पैदा की हमने मंत्र भी नकली पैदा कर ली आदमी इतना कुशल है नकल करने में कि जैसे ही उसे पता चल जाए कि मूल कैसा है वो उसकी नकल बना लेता है हमने प्लास्टिक के कागज के ही फूल नहीं बनाए फूलों में ही हमने कागज का प्रयोग नहीं किया हमने महामंत्र भी कागज के बना लिए फिर उन कागज के महामंत्रों को लेकर हम घूमते फिरते हैं इस ख्याल में कि शायद फूल वास्तविक जीवन का फूल हमारे हाथ में लग गए खतरा यह है कि आप ओम का पाठ कर करके इतना शोरगुल भीतर पैदा कर लें कि वो जो भीतर की सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्वनि है वो सुनाई ही ना पड़े आपका ओम ही उसमें बाधा बन जाए ऋषियों ने कहा है कि वो जो भीतर का ओम है वो अनाहत नाद है अनाहत नाद का अर्थ होता है जो किसी चीज की चोट से पैदा ना हो आहत ना हो जैसे मैं ताली बजाऊं ये आहत नाद है दो चीजें टकराई उनसे शब्द पैदा हुआ ओठ टकराए शब्द पैदा हुआ जीभ तालू से टकराई शब्द पैदा हुआ जो भी चीज दो चीजों के टक्कर से पैदा होती वो अनाहत नहीं है और ये जो ओम है अनाहत नाद है ये किसी चीज की टक्कर से पैदा नहीं होता ये है ये अस्तित्व का स्वरूप है ये पैदा कभी हुआ ही नहीं और ध्यान रहे जो चीज भी पैदा होती है वो मर जाएगी और जो चीज दो चीजों की टकराह से पैदा होती है वो कितनी देर टिकेगी हो भी नहीं पाएगी और मिट जाएगी ताली बज भी नहीं पाएगी खो गई इन दो हाथों की टक्कर से जो थोड़ी सी शक्ति मिली ताली की आवाज को वो कितनी देर चलेगी और ओम है शाश्वत सदा सदैव नित्य वो दो चीजों की टक्कर से पैदा नहीं हो रहा वो है वो पैदा हो ही नहीं रहा है इस अनाहत की खोज में आप ओम के मंत्र का सहारा ले सकते लेकिन बड़ी कुशलता की जरूरत है इसलिए मैंने रात को आपके लिए जो प्रयोग करने को दिया उसमें मैंने कहा आप सिर्फ ओ की आवाज करें मां को मत आने दें आप सिर्फ करें ओ सिर्फ ओ करते रहें और एक दिन आप अचानक पाएंगे कि ओम आना शुरू हो गया आप सिर्फ ओ से चोट मार रहे थे सिर्फ साज बिठा रहे थे ताकि भीतर का साज बैठ जाए और जिस दिन आप अचानक पाए चौंक कर कि आप तो ओ कहते हैं लेकिन भीतर से ओम आता है उस दिन आप समझना कि कोई और धारा भीतर टूट गई तो प्रतीक्षा करना आप जल्दी मत करना आप सिर्फ ओ का उपयोग करना और आधे हिस्से को छोड़ देना भीतर पर जिस दिन धारा बहेगी उस दिन वो जुड़ जाएगा और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आपके ओ में कोई नई चीज भीतर से आके जुड़ गई है उस दिन से आप ओ का उच्चारण भी बंद कर देना उस दिन से सिर्फ आप आंख बंद करके बैठ जाना और सुनने की कोशिश करना मंत्र बोलने की नहीं मंत्र को सुनने की कोशिश करना ओठ और जीप का प्रयोग मत करना कान का प्रयोग करना भीतर कि सुनना कि भीतर क्या हो रहा है और आप पाएंगे कि ओम का नाद भीतर हो रहा है वो आपका पैदा किया हुआ नहीं आप नहीं थे तब वो था आप नहीं होंगे तब भी वो होगा आपका होना एक लहर की तरह है वो आपके नीचे छिपा हुआ सागर है ये आदमी कभी कभी अधेरी में बहुत जल्दी कर लेता है इसलिए मैंने आपको आधा मंत्र दिया है आधा छोड़ रखा है ताकि आधा भीतर से पूरा हो तो आपको पता चल जाए कि अब कोई नई घटना घट रही जो मैं नहीं कर रहा हूं उसी वक्त आप रुक जाना और मंत्र बोलने की जगह मंत्र को सुनना शुरू कर देना ऋषियों ने मंत्र को सुना है बोला नहीं लेकिन जहां आप खड़े हैं वहां कुछ तो बोलने से शुरू करना पड़ेगा ताकि पत्थर हट जाए और झरना बहने लगे ये ओ की चोट सिर्फ पत्थर को हटाने के लिए और जैसे ही पत्थर हटेगा कि ओम का झरना बहने लगेगा फिर आप चुपचाप हो जाना फिर आप बोलना मत फिर आहत नाद पैदा मत करना फिर तो अनाहत करीब है और जरा कान उसमें लग जाएंगे एक ट्यूनिंग हो जाएगी तो बस सुनाई पड़ना शुरू हो जाए और तब आप चकित होंगे कि ये तो स्वर निरंतर गूंज रहा है अब तक मैंने सुना क्यों नहीं आप कहीं और उलझे थे मन कहीं और व्यस्त था मन का एक नियम ख्याल में ले ले मन जहां व्यस्त होता है उतना ही उसे बोध होता है और जब मन कहीं बहुत ज्यादा व्यस्त होता है तो से सब जगह अनुपस्थित हो जाता है एक युवक खेल रहा है हॉकी के मैदान पैर में चोट लग जाती खून बहना शुरू हो जाता दर्शक जो बैठे हैं ग्राउंड के किनारे उन्हें दिखाई पड़ता है कि पैर से खून बह रहा है जमीन पर खून के दाग पड़ गए लेकिन उस युवक को न तो चोट का पता है न दर्द हो रहा है न खून के बहने का कोई ख्याल है उसका सारा ध्यान खेल में लगा है लेकिन खेल बंद होगा घंटी बजेगी खेल बंद होगा और तत्क्षण खून बह रहा है और पैर में दर्द है पीड़ा है चोट लग गई उसे स्मरण आएगा ये चोट तो बहुत पहले की लग गई थी लेकिन ध्यान कहीं और था आपके घर में आग लगी हो और कोई आपसे नमस्कार करे आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा सुनाई भी नहीं पड़ेगा आंखें देखेंगी फिर भी नहीं दिखाई पड़ेगा कान सुनेंगे फिर भी सुनाई नहीं पड़ेगा घर में आग लगी आप रास्ते से गुजरते हैं रोज किनारे लगे दीवालों पर पोस्टर भी पढ़ते हैं दुकानों के साइन बोर्ड भी पढ़ते हैं दुकानों में भी झांक के देखते बढ़ते चले जाते हैं लेकिन घर में आग लगी उस दिन आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा उसी रास्ते से आप गुजरेंगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा आंखें तो हैं लेकिन अब आंखों के पीछे मन नहीं है और जब तक आंखों के पीछे मन न जुड़ा हो तब तक कुछ अनुभव नहीं होता तो आप बाहर इतने व्यस्त हैं इसलिए भीतर की तरफ ध्यान नहीं सारी चेष्टा इतनी है योग की कि आप बाहर से थोड़े मुक्त हो जाएं ताकि ध्यान की धारा भीतर बहने लगे और भीतर सब कुछ मौजूद है जो चाहा जा सकता है जो चाह चाह के नहीं मिलता वो मौजूद है जिसको हम खोज रहे हैं जन्मों जन्मों से वो मौजूद है बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला तो बुद्ध ने कहा है कि मुझे मिला कुछ भी नहीं जो मिला ही हुआ था उसका पता चला वो सदा से था ही ये ओम आपके भीतर गूंज ही रहा है यह आपके प्राणों का स्वर है यह आपका होना है यह आपका अस्तित्व है इसको ख्याल में लेके अब इस सूत्र में उतरे यमराज के इन वचनों को सुनकर नचिकेता बोला जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत अधर्म से भी अतीत तथा कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत से भी भिन्न और भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों से तथा इनसे संबंधित पदार्थों से भी पृथक आप जानते उसे बतलाइए वो जो न मरता है न जन्मता है न जिसका कोई अतीत है न जिसका कोई वर्तमान न जिसका कोई भविष्य जो सदा है जो कालातीत है जिसके पैदा होने का कोई कारण नहीं और जिसके मिटने का कोई उपाय नहीं उस परमात्मा को उस अंतिम तत्व को आप मुझे बतलाइए वो क्या है नचिकेता ने कहा ये जो सारे संपूर्ण जगत से भिन्न है सारे जगत से अतीत है अतिक्रमण कर जाता है जो दिखाई पड़ता है उसके पार है जो सुनाई पड़ता है उसके पार है उस परम तत्व को आप मुझे समझाइए यम ने कहा संपूर्ण वेद जिस परम पद का वारंबार प्रतिपादन करते और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य कराते अर्थात वे जिसके साधन जिसको चाहने वाले साधकगण ब्रह्मचरी का पालन करते वह पद तुम्हें मैं संक्षिप्त में बतलाता हूं वह है ओम ऐसा यह एक अक्षर ये ओम वैसा ही है जैसे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के फार्मूले होते सूत्र होते इस ओम में भारत की सारी खोज समाई हुई इस एक शब्द में हमने सब रख दिया है और इस छोटे से शब्द को कोई छोटा ना समझे कुंजी छोटी होती है लेकिन महलों का द्वार खोल देती है इस एक छोटी सी कुंजी से सारे अस्तित्व का द्वार खुल सकता है लेकिन कुंजी का ठीक ठीक उपयोग करना आना चाहिए आपके हाथ में भी कुंजी हो दरवाजे पे भी आप खड़े हो और कुंजी को ताले में ना लगाएं और कहीं लगाते रहे ताला न मिले कुंजी पास हो मैंने सुना है एक रात मुल्ला नसरुद्दीन नशा करके घर आया वो चाबी घुमा रहा है बड़ी देर से घुमा रहा लेकिन कुछ खुलता नहीं तो उसकी पत्नी ऊपर से कहती कि क्या इतने नशे में धुत हो गए हो कि चाबी खो गई नसरुद्दीन कहता चाबी तो मेरे पास है पत्नी ने कहा अगर चाबी खो गई हो तो मैं दूसरी चाबी फेंकूं नसुद्दीन ने कहा चाबी तो मेरे पास अगर दूसरा ताला तेरे पास हो तो फेंक क्योंकि ताला नहीं मिल रहा है चाबी ही हाथ में हो तो काफी नहीं है ताला भी पता होना चाहिए चाबी के घुमाने की भी ठीक व्यवस्था ख्याल में होनी चाहिए क्योंकि आप चाबी उल्टी भी घुमाते रह सकते जरा सी चूक और सब भटक जाएगा और जितना सूक्ष्म होता है प्रयोग उतनी ही भटकने की संभावना बढ़ जाती क्योंकि जरा सी चूक कि हजारों मील का फासला हो जाता ओम यम ने नचिकेता को कहा कि वेद जिसका बारंबार गुणगान करते हैं संपूर्ण तप जिसकी ओर लक्ष्य करते साधक जिसके लिए ब्रह्मचर्य साधते इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए जो लोग भी अति कामी हैं उन्हें भीतर की ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने में बड़ी कठिनाई होगी उसके कारण काम वासना सिर्फ वासना ही नहीं है शक्ति का अपव्यय भी है और जो ऊर्जा हम बाहर फेंक रहे हैं वो ऊर्जा हमें भीतर रिक्त कर जाती छीन कर जाती दीन कर जाती और भीतर हमें जड़ कर जाती संवेदना कम हो जाती जिन्हें भी ओम की ध्वनि सुननी हो उन्हें अपनी शक्ति के अपव्यय से बचना चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा शक्ति भीतर होगी आंदोलित जितनी शक्ति की तरंगें भीतर होंगी उन तरंगों में वो भीतर की ओंकार की ध्वनि टकराने लगेगी और वो जो टकराहट है वो आपको पहले सुनाई पड़ेगी ब्रह्मचरी का मूल्य ब्रह्मचरी में स्वयं नहीं है ब्रह्मचरी का मूल तो केवल भीतर शक्ति की एक दीवाल खड़ी करने में जिसमें भीतर का ओंकार टकराने लगे और उस टकराहट को हम सुन पाए बिना ब्रह्मचर्य के आप दीवाल रहित जैसे कोई घर हो जिसमें दीवाल ना हो आवाज आप करें तो लौट के कभी ना आए निकल जाए आकाश में खो जाए ब्रह्मचरी से हीन व्यक्ति दीवाल रहित है उसके आसपास कोई भी घेरा नहीं जिस घेरे में भीतर की ध्वनि टकरा के वापस लौट सके और सुनी जा सके वो बिना दीवाल का मकान है उसमें से आवाज गूंजती है और अनंत शून्य में आकाश में खो जाती ब्रह्मचरी एक वैज्ञानिक प्रयोग है जिसके माध्यम से शरीर की परत के साथ साथ शक्ति की परत इकट्ठी होती चली जाती इस शक्ति की परत में पहली बार ओंकार की ध्वनि गूंजती है और जब इस गूंज को हम सुन लेते तो हमें एक बात तो पक्की हो जाती है कि जिसकी ये गूंज है वो भीतर छिपा है फिर इस गूंज का ही रास्ता पकड़ के हम उस मूल तक पहुंच सकते इसलिए हम इस देश में बच्चों को पहले ब्रह्मचरी के लिए गुरुकुल भेज देते थे ताकि वे भीतर की ध्वनि से थोड़े परिचित हो जाएं। एक बार व्यक्ति ब्रह्मचरी से छूट जाए बिना भीतर की ध्वनि का अनुभव किए तो फिर बहुत कठिन हो जाता है अति कठिन हो जाता है उस ध्वनि को पकड़ना आपके मकान में दीवालों में छेद हो जाते चीजें जैसे विकृत हो जाती फिर उनको सुधारना अति कठिन होता चला जाता और एक घड़ी ठीक जिस समय चौदह या तेरह वर्ष की उम्र में युवक और युवतियां काम वासना से प्रौढ़ होते वो क्षण शक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण है उस समय उनके शरीर के आसपास वो सारी ऊर्जा इकट्ठी वो ऊर्जा असाधारण है क्योंकि उसी ऊर्जा से जन्म होगा वो ऊर्जा जन्मदात्री है उस ऊर्जा से बच्चे पैदा होंगे वो ऊर्जा परमात्मा की है तभी तो उससे बच्चे पैदा हो पाते वो सृष्टि की मूल शक्ति है और एक एक व्यक्ति कितनी शक्ति लेकर पैदा होता है आपको कल्पना नहीं एक संभोग में जितना वीर नष्ट होता है उससे दस करोड़ बच्चे पैदा हो सकते वैज्ञानिक हिसाब से क्योंकि दस करोड़ जीव कोष्ठ एक संभोग में स्खलित होते और एक जीव कोष्ठ एक बच्चे को जन्म दे सकता है अगर एक व्यक्ति कि सारे जीव कोष्ठों का उपयोग हो तो इस पृथ्वी को हम एक ही व्यक्ति के बच्चों से भर सकते एक व्यक्ति सामान्य रूप से संभोग करे तो जीवन में चार हजार संभोग कर सकता है और एक एक संभोग में एक एक करोड़ बच्चे पैदा कर सकता है चार अरब बच्चे एक आदमी की संपदा है इतनी जीवन ऊर्जा एक एक आदमी लेके पैदा होता है ये जीवन ऊर्जा असाधारण ये छोटे से वीरी के कण में छिपी हुई ऊर्जा एटम में छिपी ऊर्जा से कुछ कम शक्तिशाली नहीं ज्यादा ही शक्तिशाली हमें कल तक पता नहीं था 1945 तक पता नहीं था कि एक छोटे से अणु में जो दिखाई नहीं पड़ता आंख से उसमें इतनी ऊर्जा हो सकती कि पूरा हिरोशिमा कोई एक लाख लोग एक क्षण में राख हो गए एक एटम से एक क्षण में एक लाख लोग नष्ट होते हैं वो हमें पहली दफा पता चला इस पूरी पृथ्वी को थोड़े से ही एटम नष्ट कर देंगे लेकिन एटम से भी बड़ी ऊर्जा जीव कोष्ठ की है क्योंकि एक ही क्षण में एक व्यक्ति एक करोड़ व्यक्तियों को पैदा करने की क्षमता को संभोग में खोता है और आज नहीं कल विज्ञान जब जीव कोष्ठ की भी शक्ति को पकड़ लेगा तो परमाणु बम की शक्ति बहुत छोटी हो जाएगी जिस दिन भी हम जीव कोष्ठ की शक्ति को पकड़ लेंगे उस दिन हमने परमात्मा की शक्ति को पकड़ लिया हमने मौलिक तत्व पकड़ लिया जिससे सारे जीवन का विस्तार है चौदह वर्ष की उम्र में जबकि पहला स्खलन होगा व्यक्ति का वीरी का उस स्खलन के पहले अगर उसे ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ जाए उसका जीवन दूसरा ही हो जाए उस स्खलन के बाद हर स्खलन के बाद इस ओंकार को सुनना कठिन होता जाएगा दीवालों में छेद होने लगे प्रतिध्वनि वापस नहीं आएगी बिखर जाएगी खुले आकाश में लीन हो जाएगी तो जिन्होंने बच्चों को पहला पाठ ब्रह्मचरी का देना चाहा था उनके प्रयोजन बड़े गहन थे और ध्यान रहे ये पाठ उस दिन शुरू हो जाने चाहिए जब बच्चों के मन में कोई काम वासना ही पैदा नहीं हुई एक बार काम वासना पैदा हो गई फिर ब्रह्मचर्य की शिक्षा का कोई भी अर्थ नहीं बल्कि वो खतरनाक है घातक है क्योंकि उससे मन सिर्फ विकृत होगा रुग्ण होगा दमन से भरेगा कुछ परिणाम नहीं होगा छोटे बच्चे जब उन्हें काम वासना की कोई झलक ही नहीं और जब उनके शरीर तैयार हो रहे और वासना के पहले कृत्य के लिए जब उनकी ऊर्जा इकट्ठी हो रही उस क्षण में ही उस क्षण के पूर्व ही अगर ओम की ध्वनि से संबंध जुड़ जाए जो कि बहुत आसान है छोटे बच्चों को ओंकार की तरफ ले जाना बिल्कुल सरल बात है बूढ़ों को ले जाना बहुत कठिन बात है ये जो यम ने कहा कि साधक उसके लिए ही ब्रह्मचरी का पालन करते उसके लिए ही तप करते वही संपूर्ण वेदों का सार है वो एक छोटा शब्द उसने कहा वो मैं तुम्हें संक्षिप्त में बतलाता हूं वह है ओम ऐसा यह एक अक्षर यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही परम ब्रह्म है इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है यह सूत्र बड़ा खतरनाक है और इसलिए सूत्र की प्राथमिक साधना में इच्छाओं से मुक्त हो जाना जरूरी है ओंकार की ध्वनि आपको सुनाई पड़ जाए फिर आप जो भी इच्छा करेंगे वो करते ही पूरी होने लगेगी इसलिए आप जैसे अभी हैं ठीक वैसे ही अगर ओंकार की ध्वनि आपको मिल जाए तो अपनी आत्महत्या में आप लग जाएंगे आपकी हालत वैसी हो जाएगी जैसा मैंने सुना है कि एक यात्री भूला भटका हुआ स्वर्ग में पहुंच गया वो कल्प वृक्ष के नीचे थका हुआ विश्राम करने लगा उसे कुछ पता नहीं कि स्वर्ग है उसे कुछ पता नहीं कि कल्प वृक्ष वो तो सिर्फ छाया आंख खुली थका मांदा भूख लगी उसे ख्याल आया कि अगर इस समय कहीं भोजन मिल जाए इतना ख्याल का आना था कि वो कल्प वृक्ष के नीचे था कि एकदम चकित हुआ आकाश में से तैरती हुई थालियां स्वादिष्ट भोजनों को लिए हुए उसके सामने उपस्थित हो गई वो थोड़ा डरा भी लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने भोजन कर लिया भोजन कर भी नहीं पाया था कि उसे लगा कि कुछ जगह खतरनाक मालूम होती कोई भूत प्रेत तो नहीं देखा कि चारों तरफ भूत प्रेत खड़े हो गए उसने कहा कि मरे कि सब भूत प्रेत उसकी छाती पे चढ़ गए उसकी गर्दन दबाने लगे कि तो उसने सोचा कि अब ये छोड़ने वाले नहीं अब तो मार ही डाले कि तो उन्होंने उसे मार ही डाला वो कल्प वृक्ष था उसके नीचे जो भी कामना होगी वो तत्क्षण पूरी हो जाए आप जैसे हैं कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाए तो यही होगा ऐसा मत समझना कि मैंने कहानी कह दी तो आप कुछ और करेंगे आप यही करेंगे इससे कोई भेद नहीं पड़ेगा आपकी इच्छाएं वासनाएं आपके बस में तो नहीं उठती हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते विक्षिप्त है भीतर मन यम कह रहा है कि इस यह अक्षर ही तो ब्रह्म यह अक्षर ही परम ब्रह्म इसलिए इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है इस अक्षर को जानते ही इस ओंकार की ध्वनि के साथ एक होते ही जो भी वासना है वो तत्क्षण पूरी हो जाती इसलिए शर्त है कि वासनाएं छोड़कर ही ओंकार की साधना करनी है नहीं तो आप क्षुद्र से भर जाएंगे और विराट की ऊर्जा क्षुद्र में खो जाएगी जो मिला था उसे आप नष्ट कर देंगे हीरा मिला था आप कंकड़ खरीद लेंगे हीरा दे देंगे इसलिए इतनी ज्यादा यम ने परीक्षा ली कि कोई वासना तो नहीं है नचकेता में और जब पाया है कि कोई वासना नहीं वैराग्य का भाव पूरा है तब वो बताने को राजी हुआ है लेकिन जो व्यक्ति निर्वासना से भर के ओंकार की साधना में डूब जाता है उसकी एक ही प्यास शेष रहती परमात्मा से मिल जाने की परम सत्य से एक हो जाने की लीन हो जाने की महासागर में बूंद की भांति खो जाने की बस वो इच्छा पूरी हो जाती ओंकार की ध्वनि के इस फुरना के साथ ही जो भी प्यास शेष रहती है वो तत्क्षण पूरी हो जाती ओंकार वैसा ही सूत्र है जैसा कि एटॉमिक फिजिक्स का सूत्र कि हाथ में पड़ते ही विनाश का महामंत्र मिल गया आइंस्टीन ने कहा है मरने के कुछ दिन पहले कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं किसी गांव में प्लम्बर होना पसंद करूंगा लेकिन अब दोबारा आइंस्टीन होने की इच्छा नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ से विनाश की शक्ति का सूत्र निकल रहा है ये सृजन की शक्ति का सूत्र है ये महासृजन की शक्ति का सूत्र है इससे हम जीवन के मूल केंद्र पर पहुंच जाते हैं जहां से सारी सृष्टि विकसित हुई उस गंगोत्री पर जहां से जीवन की सारी गंगा बहती लेकिन उसके पहले सारी वासनाएं जड़ मूल से खो जानी चाहिए इसलिए मेरा इतना आग्रह कैथारसिस का कि आपका सब तरह से रेचन हो जाना चाहिए अगर जरा भी कुछ रोग आपके भीतर पड़े रह गए और ध्यान आपका सधने लगा तो वे रोग आपको बहुत बुरी तरह सताएंगे उनका हट जाना जरूरी क्योंकि ध्यान महाशक्ति है अगर रोग मौजूद रहे तो वो महाशक्ति रोगों को मिल जाएगी वो रोग हट जाने चाहिए लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं इस उछलने कूदने से क्या होगा चिल्लाने रोने से क्या होगा उन्हें पता नहीं कि क्या हो सकता है जब कोई घर में मर जाए और रोना आता हो आप मत रोएं रोक लें रोने को तब आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है ना रोने से क्या हो सकता है सारे प्राण सिकुड़ जाएंगे भीतर दुख ही दुख भर जाए आप एक घाव हो जाएंगे जो रिसने लगेगा और जब तक आप रो ना लेंगे भरपूर तब तक इस घाव से छुटकारा ना होगा मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो कि बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है आमतौर से जैसा हम समझते हैं स्त्रियां ज्यादा पागल होनी चाहिए बजाय पुरुषों की लेकिन बड़ी अजीब बात है स्त्रियां कम पागल होती हैं पुरुष ज्यादा पागल होते हैं होना उल्टा चाहिए क्योंकि स्त्रियां काफी पागल मालूम पड़ती लेकिन पागल होती नहीं राज साफ है पागलपन रोज निकाल लेती इकट्ठा कभी हो नहीं पाता पुरुष बड़ा संभल के चलता है कोई कुछ कहना दे कि क्या नासमझी की बात कर रहे हो स्त्री दिल दिल खोल के रो लेती कोई भी नहीं कहे, कहेगा स्त्री आप रो रहे हैं तो कहेगा क्या मर्द हो के रो रहे हैं आंसू रुक जाए ये मर्दपन पागलपन में ले जाए अगर ज्यादा मर्दगानगी की तो आप पागलखाने में दिखाई पड़ेगा क्यों प्रकृति ने आपकी आंखों में भी उतनी ही आंसू की क्षमता दी है जितनी स्त्री की आंखों में प्रकृति ने भेद नहीं किया उतनी ही ग्लेंस आपकी आंखों में है जितनी स्त्री की अगर प्रकृति को भेद करना होता स्त्री और पुरुष का तो ग्लेंस कम होती आंखों में आंसू की पर वो उतनी ही है और ध्यान रहे जो रोने को रोक लेगा उसका हंसना भी रुक जाएगा ये जरा जटिल क्योंकि जो ठीक से रो नहीं सकता वो ठीक से हंस भी नहीं सकता वो हंसने से भी डरेगा असल में वो सभी चीजों को नियंत्रित करने लगेगा क्योंकि भयभीत है कि कुछ छूट ना जाए कहीं कुछ बंधन ना टूट जाए चीजें बाहर ना निकल पड़े पुरुष ज्यादा पागल होते हैं पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं स्त्रियां कम पागल होती हैं कम आत्महत्या करती हैं बातें बहुत करती हैं कि आत्महत्या कर लेंगे करती कम है वो बातों में ही निकल जाता है मामला इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो बहुत कहता हो आत्महत्या करेंगे उससे निश्चिंत रहना जो कभी ना कहता हो वो खतरनाक वो कभी ना कभी कर सकता है उसने कभी कहा नहीं निकल नहीं पाया सब इकट्ठा होता चला जो आदमी रोज क्रोध करता है छोटी छोटी बातों में उससे डरने की कोई जरूरत नहीं वो उपद्रव कोई नहीं कर सकता वो किसी की हत्या नहीं कर सकता है हत्या के लिए महाक्रोध इकट्ठा होना चाहिए उसमें कभी इकट्ठे नहीं होगा इसलिए छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाले लोग अक्सर प्यारे और भले होते साधु सज्जन जो क्रोध नहीं करेंगे पी जाएंगे ये खतरनाक है इनसे जरा दूर रहना ये दुष्ट है ये किसी भी दिन जब भी करेंगे तो गर्दन से कम नहीं इससे कम में इनका काम ही नहीं चलेगा इन्होंने इतना इकट्ठा कर लिया आप कहते हैं क्या होगा नाचने कूदने से रोने चिल्लाने से और आपने जिंदगी भर ये सब इकट्ठा कर रखा है वही तो आपका रोग है उसकी वजह से तो आप सरल नहीं हो पाते बच्चे क्यों सरल है उनकी सरलता का कुल एक ही कारण है कि अगर क्रोध है तो बच्चा उछल कूद पूरी कर लेता है हाथ पैर पटक लेता बच्चे को क्रोध में देखे तब जैसे सारी दुनिया की शक्ति उसमें आ जाती है चेहरा लाल हो जाता है आंखें जलने लगती हाथ पैर पटकने लगता छोटा सा लेकिन जिससे विराट उसमें प्रकट होने लगता और क्रोध बह गया और एक क्षण बाद वो हंस रहा है और उसके हंसी में क्रोध का जरा सा भी विकार नहीं उसकी हंसी में क्रोध का जरा सा भी दाग नहीं उसकी हंसी फिर फूल की तरह हमें बड़ी हैरानी होती कि अभी इतने क्रोध से भरा था अब इतना खुश नजर आ रहा है असल में क्रोध बह गया कुछ बचा नहीं जो खुशी को बिगाड़ सके जो खुशी में जहर बन सके क्रोध बह गया बच्चा हंस रहा है फिर क्रोध आएगा फिर क्रोध कर लेगा फिर हंस लेगा खुश होगा दुखी होगा लेकिन जो भी होगा वो क्षण में हो जाएगा इकट्ठा कुछ भी ना होगा जिस दिन बच्चा इकट्ठा करने लगा उसी दिन बचपन मर गया अब बच्चे ने बूढ़ा होना शुरू कर दिया और हम सब कितना इकट्ठा कर लिए उसकी वजह से हम जटिल हैं सरल नहीं और जो सरल नहीं है सहज नहीं है उसका इस भीतर के ओंकार से कोई संबंध नहीं हो सकता इसलिए इतना जोर है कैथारसिस पर रेचन पर कि फेंक दें सब जन्म भर का इकट्ठा हुआ कचरा उसे उसे संभाल के मत चले लेकिन डर है कि कोई देख ना ले कि आप जो कभी नहीं रो रो रहे आपकी प्रतिमा है एक एक इमेज कि आप इस तरह पागलों की तरह खिलखिला के हंस रहे हैं आपसे ऐसी आशा नहीं थी क्या आप ऐसा नाचेंगे कूदेंगे कभी सोचा भी नहीं था दूसरे के भय से अगर आप रोक लेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं दूसरे के भय से अगर आप जी रहे हैं दूसरा अगर आपको नियोजित कर रहा है इतना भी साहस नहीं तो धर्म आपकी यात्रा नहीं हो सकता वो निर्भीक साहसी लोगों का काम है एक मित्र आए हैं वो मुझसे आके बोले कि और तो सब ठीक है लेकिन पत्नी भी साथ आई है तो मैं नाचू कूदू कुछ तो वो घर जाके तो उनकी एक प्रतिमा सामने वो मिट जाएगी पत्नी उनसे डरी हुई वो भी मुझसे अलग आके कह दे कि पति साथ आए हुए एक दूसरे से डरे हुए लोग ध्यान रहे जिनसे आप डर रहे हैं वो भी आपसे डर रहे हैं इतनी कृपा करें उनसे मत डरें तो वो भी आपसे नहीं डरेंगे इनमें से पति पत्नी में से एक भी उछलने कूदने लगे तो दूसरा स्वतंत्र हो जाएगा कि बात खत्म हो गई अब क्या प्रतिमा अपनी बचानी है जब दूसरे ने नहीं बचाई इस प्रतिमा को बचाने के मोह में हम दमित सप्रेस्ड बने रहते वो दमित व्यक्तित्व मूल स्वरों को नहीं पकड़ सकता वो उतना गहरा नहीं जा सकता गहराई में जाने के लिए सरलता चाहिए निर्दोष सरलता चाहिए बच्चे जैसी सरलता चाहिए आप इन दिनों में यहां बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो जाएं। इस संबंध में एक सूत्र और आपको जोड़ देना है जो कल सुबह से आप प्रयोग करें एक सूत्र मैंने दिया एक विधि रात को करने की सोने के पहले दस मिनट जोर से श्वास को छोड़ें और ओ की आवाज करते हुए छोड़ें और फिर सो जाएं उसी ओ की आवाज करते करते लीन हो जाएं सो जाएं सुबह जैसे ही आपको पता चले कि नींद खुल गई है आंख मत खोलें जैसे ही अनुभव में आ जाए कि नींद खुल गई पहला काम करें जैसा कि बिल्लियां या कुत्ते पूरे शरीर को खींचते हैं तानते हैं वैसा पूरे शरीर के अंगों को खींचे ताने शिथिल करें ताकि पूरे शरीर में शक्ति का प्रवाह हो जाए सारे अंगों को खींचें और ढीला छोड़ दें खींचें और ढीला छोड़ दें पैरों को हाथों को गर्दन को पूरे शरीर को अकड़ाएं और सब तरह से जैसा कि पशु करते हैं ताकि शरीर की शक्ति पूरी तरह प्रवाहित हो जाए ढाई मिनट दो ढाई मिनट अभी भी आंख ना खोलें और जब दो ढाई मिनट ऐसा करने के बाद आप पाए कि स्फूर्ति आ गई सारा शरीर जग गया रोआ रोआ जग गया तब ढाई मिनट तक खिल खिला के पागल की तरह हंसे आंख बंदी रखें उसके बाद ही बिस्तर छोड़े ताकि शुभ मुहूर्त सुबह ही रेचन शुरू हो जाए और जब आप ध्यान करने यहां आए तो पहली तैयारी हो चुकी और डरे मत कि बगल के कमरे का व्यक्ति क्या सोचे उसकी भी सहायता करें आपका करना सुन के उसकी भी हिम्मत बढ़ेगी वो आपसे डरा हुआ है इस प्रयोग को सुबह के लिए जोड़ दें यही अत्युत्तम आलंबन है यही सबका अंतिम आश्रय है इस आलंबन को भली भांति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमा को उपलब्ध होता है नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है यह न तो स्वयं किसी से हुआ है न इससे भी कोई हुआ है अर्थात यह न तो किसी का कार्य है और न कारण है यह अजन्मा नित्य सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित शरीर के नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है ओम की ध्वनि के माध्यम सहारे से जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं के स्वरूप की झलक पाता है वैसे ही मृत्यु असत्य हो जाती और तब वो देखता है कि भीतर जो है उसे मिटाने का कोई भी उपाय नहीं वो नहीं मिट सकता क्योंकि वो कभी जन्मा नहीं जो जन्मता है वो मरेगा आप नहीं जन्मे हैं माता पिता से केवल आपकी देह जन्मी है देह निर्मित हुई है आप प्रविष्ट हुए हैं उस देह में वैज्ञानिक सोचते हैं कि आज नहीं कल वो टेस्ट ट्यूब में मनुष्य की देह का निर्माण कर ले और इसमें कुछ अड़चन ज्यादा नहीं मालूम होती ये हो जाएगा लेकिन वैज्ञानिक सोच जिस दिन वो मनुष्य को निर्माण कर लेंगे प्रयोगशाला में और मां और पिता के गर्भ की और वीर की कोई भी जरूरत ना रहेगी जिस दिन बच्चा पूरा यंत्रों के बीच यांत्रिक गर्भ में पैदा और बड़ा होगा उनकी धारणा है उस दिन उन्होंने सिद्ध कर दिया होगा कि कोई आत्मा नहीं तो वो गलती में उससे कुछ भी सिद्ध ना होगा आत्मा का ना होना उससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होगा कि अब तक प्राकृतिक ढंग से शरीर निर्मित होता था और आत्मा उसमें प्रविष्ट होती थी अब शरीर वैज्ञानिक ढंग से निर्मित होने लगा और आत्मा उसमें प्रविष्ट होने लगी आत्मा सिर्फ प्रवेश करती है आत्मा पैदा नहीं होती इसलिए वैज्ञानिक अगर प्रयोगशाला में भी मनुष्य को पैदा कर लें तो भी आत्मा को पैदा नहीं कर रहे हैं वो इस भ्रम में ना पड़े उन्होंने केवल प्राकृतिक शरीर की जगह कृत्रिम शरीर निर्मित कर दिया और जिस दिन शरीर इस योग्य होगा कृत्रिम शरीर कि आत्मा उसमें प्रवेश कर सके आत्मा प्रवेश कर जाएगी आत्मा अजन्मी है और उसकी कोई मृत्यु भी नहीं शरीर ही बनता और शरीर ही मिटता है लेकिन यह बात कुछ मान लेने की नहीं और यह बात कुछ सिद्धांत की तरह पकड़ लेने की नहीं यह तो तभी समझ में आएगी जब इसका भीतर अनुभव हो जाए इसलिए मैं नहीं कहता कि आप मान लें कि आत्मा अमर है मैं तो कहता हूं जानने में लगे एक महिला ने मुझे आज आकर कहा कि वो नास्तिक है बुरा नहीं है अच्छा है सभी को नास्तिक होना ही चाहिए नास्तिक का इतना ही मतलब है कि जिसका हमें पता नहीं उसे हम कैसे माने नास्तिकता वस्तुता इंकार नहीं है नास्तिकता का मतलब यह नहीं है कि आत्मा नहीं है अगर कोई नास्तिक ऐसा कहे कि आत्मा नहीं है तब तो वो नास्तिकता के बाहर जा रहा है वो एक ऐसी बात की घोषणा कर रहा है जिसका उसने कोई अनुभव नहीं किया वो घोषणा भ्रांत है वो घोषणा निराधार है क्योंकि अब तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया है अनुभव से कि आत्मा नहीं है अनुभव से तो जिन्होंने भी जाना उन सबने कहा कि आत्मा है अनुभवी तो कहता है है हां आपको जब तक अनुभव ना हो तब तक आप कह सकते हैं कि मुझे पता नहीं बस इतना है अगर आप जोर दे के कहने लगे कि नहीं है तो आप नास्तिक नहीं हैं आप तर्कयुक्त नहीं हैं आप बुद्धिमानी की बात नहीं कर रहे आप अंधे श्रद्धालु आपकी श्रद्धा आत्मा के न होने में लेकिन अनुभव आपको ये नहीं नास्तिक होना बुरा नहीं लेकिन नास्तिक पर रुक जाना बुरा है एक और मित्र दो दिन पहले मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि मैं तो नास्तिक हूं और मुझे कोई बात समझ में नहीं आती आस्तिकता की तो मैंने उनसे कहा कि समझने की जरूरत भी क्या है परेशान क्यों मत समझें छोड़ें लेकिन जाहिर है कि नास्तिकता में तृप्ति नहीं इसलिए समझने की कोशिश नहीं तो मेरे शिविर में आने का क्या प्रयोजन है और मैंने कहा कि अगर नास्तिकता से आनंद उपलब्ध हो रहा हो तो मैं खुद भी नास्तिक बनने को तैयार हूं बोले कि आनंद तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो रहा तो फिर मैंने कहा कि मुझे कहीं आनंद उपलब्ध हो रहा है मैं कहता हूं इस रास्ते पर थोड़ा चल के देख लो अगर तुम्हें आनंद उपलब्ध हो रहा हो भरोसे से तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते पर चलने को राजी हूं या मैं तुम्हें भरोसे से कहता हूं कि मुझे आनंद उपलब्ध हुआ है चल के देख लो नास्तिकता नपुंसकता है क्योंकि उससे कुछ मिलता तो है नहीं वो सिर्फ निषेध है वो कहती ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है लेकिन उपलब्धि क्या है उससे मिलेगा क्या नकार से पैदा क्या हो सकता है नास्तिकता ऐसे है जैसे एक आदमी खेत में कंकड़ बो दे और मैं उससे कहूं कि बीज देता हूं बीज बो दे वो कहे बीज में हमारा भरोसा नहीं हम तो कंकड़ में भरोसा करते तो मैं उससे ये पूछूंगा कि फसल कहां है अगर तेरे भरोसा कंकड़ों में है तो फसल दिखा क्योंकि फल ही प्रमाण है अंकुर कहां हुए फल कहां लगे फूल कहां आए कंकड़ बोने तक ही काम होता तब तो ठीक था फसल भी कभी काटी अब तक किसी नास्तिक ने कोई फसल नहीं काटी तो अगर कंकड़ बोना ही केवल सुख हो तो बोए चले जाओ लेकिन आदमी बोता इसलिए है कि काट सके आदमी बीज इसलिए डाल सकता है कि वृक्ष कि फूल लगे फल लगे कि कोई तृप्ति हो कि कोई उपलब्धि हो कि कहीं कोई जीवन का रूपांतरण हो निषेध से कोई रूपांतरण तो नहीं सिर्फ कह देने से कि मोक्ष नहीं है कुछ हल नहीं होता इससे आप मुक्त नहीं होते इससे आप बदलते भी नहीं इससे आप कहीं जाते भी नहीं कोई मंजिल उपलब्ध नहीं होती लेकिन मैं नहीं कहता कि आप बिना जाने मान लें मैं कहता हूं कि बिना जाने न तो माने और न न मानने का जोर करें बिना जाने इतना ही समझें कि मुझे पता नहीं और खोज के लिए तैयार आत्मा अमर है ऐसा सिद्धांत कुछ काम का नहीं है लेकिन आत्मा अमर है ऐसी प्रतीति अनूठी और वो आपके भीतर छिपा है तत्व जो आप नहीं थे इस शरीर की भांति तब भी था और जब ये शरीर आपके परिजन परिजन मरघट में जला देंगे तब भी होगा लेकिन उसे पाने के लिए थोड़ा पीछे सरकना होगा थोड़ा शरीर से हटना होगा मन से हटना होगा और थोड़ा अपने भीतर उस केंद्र को खोजना होगा जिसके आगे कुछ भी नहीं है इस केंद्र की खोज ओंकार से ओम से हो सकती है ओम इसकी कुंजी है इस जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से महान परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित चिंता रहित कोई विरला साधक सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है ये आखिरी बात थोड़ी ख्याल में ले लेनी चाहिए ये बड़ी जटिल है और बड़ी विवादग्रस्त है और इस पर हजारों साल तक चर्चा हुई और दो बड़े मत हैं जो एक दूसरे के विरोधी एक मत कहता है कि अपने ही संकल्प और अपने ही प्रत्न से परमात्मा या सत्य मिलता है जो परम तत्व है वो अपने ही प्रयास और प्रयत्न और साधना और तप से उपलब्ध होता है वो किसी की कृपा से नहीं मिल सकता कृपा का कोई सवाल भी नहीं है इस मत का कहना है और अगर वो किसी की कृपा से मिलता है तो ये जगत फिर बिल्कुल ही एक बेबूज पहेली है ये बेहूदी घटना है क्योंकि तब तो ये भी हो सकता है कि जो श्रम करे उसे न मिले और जो श्रम ना करे उसे मिल जाए इसलिए महावीर बुद्ध उस परंपरा के सारे सिद्ध पुरुष कहते हैं कि किसी की कृपा का कोई सवाल नहीं अपना ही प्रत्न पर्याप्त है कृपा की बात ही थोड़ी गड़बड़ है उसमें थोड़ी रुष्पत की बू है एक आदमी ऐसा हाथ पर जोड़ के मंदिर में और रनाक रगड़ के और सिर पटक के और कि तुम पतित पावन हो और मैं पापी हूं ऐसा किस राजी कर ले परमात्मा को और एक आदमी जीवन भर श्रम करता रहे तप करे ध्यान करे और परमात्मा का नाम भी ना ले तो उस पर कृपा कैसे होगी तो महावीर ने तो कहा कि परमात्मा है ही नहीं क्योंकि वो हो तो ये कृपा का उपद्रव साथ लगा रहेगा व्यक्ति का श्रम पर्याप्त है उसका श्रम जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन सत्य उपलब्ध होगा इस बात में थोड़ी सच्चाई और इस बात में अर्थ है इससे विपरीत एक विचारधारा है जो कहती आदमी के हाथ में क्या है आदमी कमजोर है असहाय है अज्ञानी और इस अज्ञान से भरा हुआ आदमी जो श्रम भी करेगा वो श्रम भी तो अज्ञान में ही होगा इस अज्ञान से भरा हुआ आदमी कमजोर दीनहीन आदमी जो प्रत्न भी करेगा वो प्रत्न भी विराट को पाने वाला कैसे हो सकता है ये हाथ इतने छोटे हैं आदमी के कि उस विराट को अपनी मुट्ठी में ले कैसे पाएंगे सत्य इतना बेबूझ इतना दुर्गम और आदमी इतना कमजोर और इतना अंधेरे में कि प्रभु कृपा के बिना यह यात्रा हो नहीं सकती उस विराट की कृपा होगी तो ही तो ही इन पैरों में शक्ति आएगी और फिर इस दूसरी धारा का यह भी कहना है कि प्रत्न और संकल्प और श्रम सब अहंकार को मजबूत करेंगे कि मैं कुछ हूं कि मैं ही पालूंगा और अहंकार तो बड़ी बात है इसलिए इस अहंकार को जगह मत दो उसकी कृपा उसका प्रसाद उसकी ग्रेस उसकी अनुकंपा से होगा ताकि अहंकार को कोई जगह ना रहे इस दूसरी बात में भी बड़ा सच है ये दोनों बातों में सच है और दोनों बातों में खतरा भी है पहली बात का खतरा है अहंकार और दूसरी बात का खतरा है प्रमाद आलस्य पहली बात का खतरा है कि आदमी अहंकार से भर जाए इसलिए जैन साधु जितना अहंकारी होता है उतना किसी समाज का साधु नहीं होता होगा ही जैन साधु किसी को नमस्कार भी नहीं करेगा जब परमात्मा नहीं है जिसको नमस्कार करनी तो फिर किसको नमस्कार करना जैन साधु सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है नमस्कार नहीं कर सकता झुकने की बात ही में गड़बड़ हो जाती तो जैन साधु जितना सघन अहंकार लेके चलता है उतना कोई साधु लेके नहीं चलता कारण है क्योंकि अपने ही प्रत्न का भरोसा है कोई कृपा नहीं है कोई प्रसाद नहीं है कोई परमात्मा नहीं जिसका सहारा चाहिए अपना ही सहारा है स्वभावतः अहंकार सघन होता है ये खतरा है वो जो कृपा को मान के चलते वो कुछ करते ही नहीं वो कहते हैं जब उसकी कृपा होगी वो हाथ पैर भी नहीं हिलाते वो कहते हैं जब उसकी कृपा होगी वो प्रभु कृपा वाले लोग गहन आलस्य को उपलब्ध हो जाते उनमें विनम्रता होती है लेकिन आलस्य होता है जैन साधु में या इस तरह की धारा में चलने वाले साधु में बड़ी तत्परता होती है श्रम की लेकिन अहंकार होता है प्रसाद को मानने वाले व्यक्ति में विनम्रता होती है भक्त जैसा विनम्र होता है वैसा तपस्वी कभी भी नहीं हो सकता लेकिन आलस से पकड़ लेता है वो कहता है जब उसको करना है करे मैं कौन और मेरे करने से क्या होने वाला ये खतरे मैं आपसे कहता हूं ये दोनों ही बातों को ठीक से समझ के अगर आप पूरा कर सके कि प्रत्न आपको करना होगा फिर भी उपलब्धि उसके प्रयास प्रसाद से होगी तो आपके जीवन में बड़ी क्रांति आ जाएगी प्रयास आपको करना होगा क्योंकि प्रयास ही आपको इस योग्य बनाएगा कि उसका प्रसाद आपको मिल सके लेकिन अंतिम क्षण में प्रसाद से ही घटना घटती है इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई परमात्मा का स्मरण ना करे तो घटना नहीं घटेगी स्मरण से थोड़ी प्रसाद मिलता है परमात्मा को बिल्कुल ही छोड़ दें और सिर्फ प्रत्न करते चले जाएं तो भी एक घड़ी आएगी जब प्रसाद मिल जाएगा कोई परमात्मा इसलिए थोड़ी प्रसाद देता है वहां कोई देने वाला थोड़ी बैठा है कि देख देख के देगा कि किसने मेरा नाम लिया था ये तो एक जीवन की आंतरिक व्यवस्था जिसे 100 डिग्री तक कोई पानी को गर्म करे वो भाप बन जाता है फिर चाहे वो अग्नि देवता को मानता हो और न मानता हो कि अग्नि देवता की पूजा करता हो कि न पूजा करता हो 100 डिग्री पर जब पानी आ जाता है तो बाप बन जाता है तो चाहे कोई परमात्मा को मानता हो या न मानता हो जब 100 डिग्री पर प्रत्न आ जाता है तो प्रसाद उपलब्ध हो जाता है लेकिन अंतिम घड़ी प्रसाद से घटती और ये ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि व्यक्ति एक छोटा सा अंश है इस विराट का इस विराट को पाने में श्रम तो चाहिए लेकिन अकेला श्रम काफी नहीं इस विराट को पाने में श्रम से भी ज्यादा कुछ चाहिए इस विराट का सहयोग चाहिए लेकिन वो मिलता उसी को है जो श्रम करता है यम कह रहा है नचिकेता को कि कोई बिरला साधक ही लेकिन साधक ध्यान रहे साधक का मतलब है जिसने श्रम किया साधना की उसकी कृपा से इस परम तत्व को उपलब्ध हो पाता है उसकी कृपा को कभी ना भूले और अपने प्रत्न को भी कभी ना भूले आपकी प्रार्थनाओं से उसका प्रसाद नहीं मिलेगा आपकी साधना से उसका प्रसाद मिलेगा प्रार्थनाएं बचकानी वो धोखा है प्रवंचना है कुछ किए बिना हाथ जोड़े खड़े कि ये मिल जाए वो मिल जाए मोक्ष मिल जाए सब मिल जाए आपको लेकिन मिलने की कोई पात्रता नहीं सागर को बुला रहे और चुल्लू भर पानी को संभालने की पात्रता नहीं वो अच्छा ही है कि सागर आपकी प्रार्थना सुनकर नहीं आता नहीं तो आप डूबेंगे आपका उबरना मुश्किल हो जाएगा जिस दिन पात्रता पूरी होती है उस दिन सागर आ जाता कबीर ने कहा है कि पहले तो मैं सोचता था कि बूंद सागर में खो गई लेकिन अब जानता हूं कि सागर ही बूंद में उतर आया और पहले तो सोचता था कि बड़ा मुश्किल होगा एक बार बूंद सागर में खो जाएगी तो उसको वापस कैसे खोजूंगा और अब तो बड़ी मुसीबत हो गई क्योंकि बूंद सागर में खो जाए तो शायद खोजना किसी तरह संभव भी हो लेकिन जब सागर ही बूंद में खो जाए तो अब खोजने का कोई उपाय ना बचा ये मिटना पूरा हो गया श्रम प्रथम चरण में और अंतिम चरण में प्रसाद ये दोनों सूत्र अगर संभले रहे तो जीवन में वो जो परम विभूति वो जो परम ऐश्वरी है वो जो परम आनंद है वो जो परम चैतन्य है उसके बरसने में देर नहीं लगती लेकिन ये दो विरोधी चीजें साथ जुड़ी हों ये दोनों चाक एक साथ हो तो आपका जीवन रथ मुक्ति के द्वार तक निश्चित ही पहुंच जाता है बैठे रहें कोई बीच से उठे ना जब तक मैं सूचनाएं पूरी ना दे लू for those who can not understand Hindi one special technique for the morning you have to start it from tomorrow morning in the night as I told you you have to do one method with deep exhalation. And while exhaling, making the sound oh for 10 minutes. And then by and by relaxing and falling into sleep. On the next, in the morning, whenever you feel that now the sleep has left you, don't open your eyes. Let eyes remain closed for two and half minutes. Stretch, strain your body, tense and relax your body like a cat. All the limbs, every cell of the body should become alive. For two and half minutes, stretch the body, Make every part, legs, hands tense and then relax them. Make them tense and relax them. Tense the body, whole body, and relax the body. Stretch like a cat. Remember, if you have seen a cat stretching, just like that, be a cat. And don't open the eyes so that you can feel the inner body flow, the wholeness of the body the one flow of the body energy. And after this, for two and a half minutes, laugh as madly as possible, as loudly as possible. Go completely mad and don't open the eyes so that you can feel the laughter going through every cell of the body and making it alive and only then open the eyes and come out of the bed. For this night meditation, remember few things. One, when you are doing it, your hands should be raised towards the sky to receive the grace. Remember, you must be knowing about the principle of gravitation that the earth is pulling you down science will have to come and concede someday that this is only half the truth because energy is must balance if the earth is pulling you down and there is something like gravitation then there must be something like grace which is pulling you up. Grace is the principle which pulls you up, and gravitation the principle which pulls you down. With raised hands, you are receptive and welcoming for the grace to descend upon you. Your eyes have to be fixed towards me staring without blinking. Even if you feel a certain strain, don't be bothered by it. Go on staring at me. Because a deep communion is going to happen. If you go on staring at me, then your eyes will become a bridge, and I can enter you, and you can enter me. A link a deep link is possible. So don't blink the eyes. Thirdly, you have to constantly jump so that the energy becomes a movement within. The energy should not remain static. It must become dynamic. So go on jumping. And I will not be speaking. So I will give you indications by my hands. When I move my hands, bring your energy more and more to your jumping and to your mantra who. Bring your total energy to it. Don't withhold anything. If you are withholding anything, you will miss the whole point. Bring your total, totality to it. And one thing more Sometimes when I will feel that your energies are jumping and have become a dynamic force, and you have become open to the grace. Whenever I, I will feel the moment of tuning, I will put down my palms downwards. Whenever you see that my palms are downwards now, feel as if the divine, the cosmic is descending upon you and in that moment go completely mad with mantra who, with jumping, with your hands raised. You forget that you are there. Just become a flow of energy. Whenever you feel that my palms are downwards, be receptive and go completely mad. In that mad dance, the cosmic can be touched not only that you will touch it the cosmic can touch you it can penetrate you and that penetration will become a pregnancy and the cosmic will become a child within you and it will grow and unless the cosmic the divine grows within you you can never feel the absolute bliss for which the mind hankers, the body hankers, the whole being is thirsty.